पहला प्रश्न भगवान इन दोनों यहाँ रह रहा हूँ बहुत सी बातें भीतर घट रही हैं पूछना आता नहीं आप सब जानते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि भीतर बहुत दबाया है और बाहर बहुत न होने देने रहा हूँ आज सुबह के प्रवचन में आपने उत्तर तो दे ही दिया है फिर भी उचित समझे तो कुछ और मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें पहले भी कई बार प्रश्न पूछने का मन होता था लेकिन डर संकोच और कैसे पूछे यह नहीं आता था इसलिए कभी पूछ नहीं पाया आपकी अनुकंपा अपार है सागर चैतन्य है एक शब्द अनुकंपा को जोर से पकड़ लो से सब फिर अपने से हो जाए एक तो रास्ता है संकल्प का संघर्ष का एक रास्ता है समर्पण का अहंकार विसर्जन का संघर्ष का रास्ता तो कंटकाकीर्ण है और संघर्ष के रास्ते पर खतरा है अहंकार के जन्म का समर्पण का रास्ता अति सुविधा का है क्योंकि जो बड़े से बड़ा खतरा है अहंकार के जन्मने का समर्पण के मार्ग पर उसकी कोई संभावना नहीं समर्पण करो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें छोड़ना असंभव मालूम होता है क्योंकि वे सारी छोटी छोटी बातें अहंकार का हिस्सा है क्रोध है काम है लोभ है इन्हें तुम छोड़ना चाहोगे और कौन नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि क्रोध से काम से लोभ से मिलता क्या है सिवाय पीड़ा के सिवाय विषाद के सिवाय नरक के और निर्मित नहीं होता कुछ इनसे इसलिए जिसमें थोड़ी भी बुद्धि की किरण वह छोड़ना ही चाहेगा मगर जो छोड़ना चाहता है वह और भी उलझन में पड़ जाता है एक नई उलझन काम क्रोध मोह तो अपनी जगह खड़े और एक छोड़ने का नया उपद्रव और छोड़े छूटते नहीं जितना छोड़ो उतना जोर से पकड़ते जकड़ते मालूम पड़ते छोड़ने वाला और भी अशांत उद्विग्न मन हो जाता है क्योंकि मूल भूल हो रही है काम लोभ क्रोध सब अहंकार की जड़ से पैदा होते जड़ को काटोगे नहीं पत्तों को छांटोगे जिंदगियां ऐसे ही गमाई जिंदगियां और गमाओगे पत्ते छांटते रहो कल में करते रहो वृक्ष और घना होता जाएगा कुठारा घात करना है जड़ पर एक ही कुल्हाड़ी में काम हल हो जाता है तो फिर हजार चोटें क्यों करनी सौ सुनार की एक लोहार की लोहार की ही चोट करो एक ही चोट से काम हो जाए इसलिए तुमसे कहता हूं अनुकंपा शब्द को पकड़ लो वही तुम्हारा शास्त्र वही तुम्हारा वेद कहो कि मेरे किए तो कुछ नहीं होता अब छोड़ता हूं प्रभु के हाथों और फिर जैसा चलाए प्रभु चलो फिर निसंकोच चलो फिर निर्भय चलो पूरब तो पूरब पश्चिम तो पश्चिम फिर छोड़ ही दो ये करने का भाव कर्ता का भाव और तब तुम चकित होकर रह जाओ जिसने समर्पण किया उसके जीवन में धर्म का अपने आप अवतरण होता है यामनी बीती रात सबकी नींद थी पर जागरण मेरा अथिरता में डगमगाया था चरण मेरा तम विशाल अनेक छोटी किरण ने जीती यामनी भी थी ऊषा ने डेडी गगन के भाग रोली विश्व भर की भर गई आलोक से झोली भरेगी कब हृदय की मेरी कुटी दी थी यामनी भी थी मैं चलू तिरना मुझे दुर्लभ सागर है कहीं सागर पार मेरे राम का घर है कृपा उनकी हो अगर तो मिले मन जीती यामनी की थी रात बीत जाए अभी सुबह हो जाए अभी परमात्मा की अनुकंपा पर सब छोड़ दो यही भक्ति का सार सूत्र है नहीं मेरे किए कुछ होगा उसकी मर्जी भटकाए तो भटकेंगे इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए सन्यासी की कि परमात्मा भटकाए तो भटकेंगे कि परमात्मा अंधेरी गलियों में ले जाए तो जाएंगे जब सब उस पर छोड़ दिया तो निर्णय हमारा नहीं तो फिर हम शुभ और अशुभ का भी भेद ना करेंगे फिर जब उसकी ही छाया बननी तो समग्र रूपेण बनेगी पहले तो खतरा मालूम होता है कि ऐसे सब छोड़ देंगे तो हमसे तो फिर भूले ही भूले होंगी क्योंकि हमसे तो भूले होती हैं इतनी होशियारी रखते हैं तो भी इतना संभल के चलते फिर भी गिर गिर पड़ते हैं और अगर संभलना भी छोड़ दिया सब उस पर छोड़ दिया तो फिर तो गिरने के सिवाय हमारी कोई नियति ना होगी नहीं जीवन का शास्त्र कुछ और है तुम गिरते हो क्योंकि संभलने की कोशिश करते हो तुम संभलने की कोशिश नहीं गिरते हो संभलने की कोशिश में अहंकार संभलता और वही गिरना है अगर तुम गिरने को भी राजी हो जाओ वह गिराए तो गिरेंगे हम कौन हैं जो बीच में आए वह मिटाए तो मिटेंगे अगर नरकों में ही उसे ले जाना है तो वही हमारे लिए स्वर्ग है ऐसी जिसके मन में समग्र शरणागति है वह संभल गया उसके गिरने का उपाय ही ना रहा उसे कोई चीज गिरा नहीं सकती अब उसके लिए गड्ढे बचे ही नहीं अब भटकाव हो ही नहीं सकता सब की प्रसिद्ध कथा है सतपदी के संबंध में सतपदी के सौ पैर होते हैं इसलिए नाम सतपदी सेंटिपीड एक सतपदी जा रहा है सुबह सूरज निकला है अभी भी सोकर उठा है रात भर का ताजा मस्त सुबह की ताजी हवा और सूरज की किरणें नास्तिक की तलाश में निकला है एक खरगोश उसे देखता है उसके सौ पैरों को देखता है बड़े गौर से देखता है बड़ा किम कर्तव्य विमूल हो जाता है पूछता है कि हे सतपति क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो सतपति ने कहा क्या पूछना उस खरगोश ने कहा एक विचार जब भी तुम्हें देखता हूं उठता है कभी पूछा नहीं क्योंकि क्यों अकारण तुम्हारे जीवन के संबंध में कुछ प्रश्न उठाऊं शोभन नहीं मालूम होता शिष्ट नहीं मालूम होता पर आज रहा नहीं जाता बहुत हो गया दबाते दबाते आज तो पूछूंगा तुम सौ पैर कैसे संभाल पाते हो कब पहला उठाना कब दूसरा कब तीसरा कब चौथा कब पचासवा कब अस्सीवा कब निन्यानवा कब सौवा कैसे हिसाब रखते हो लड़खड़ा नहीं जाते उलझ नहीं जाते पैर में पैर नहीं फंस जाते चले जाते हो जैसे कि कोई सैनिकों की कतार जा रही हो धड़धड़ाते कभी तुम्हें गिरते नहीं देखा सब पति ने कहा कि प्रश्न कठिन है मैंने कभी इस पर सोचा नहीं जन्म से ही सौ पैर है तो चलता रहा हूं कभी नीचे झांक कर विचार नहीं किया अब तुम कहते हो तो सोचूंगा विचारूंगा उत्तर दूंगा और जो होना था वही हुआ पहली दफा चेष्टा पूर्वक उसने पैर उठाया कि देखो पहले कौन सा उठता फिर दूसरा फिर तीसरा सौ पैरों के चक्कर में बुरी तरह खो गया वहीं लड़खड़ा के गिर गए अभी खरगोश गया भी नहीं था खरगोश ने उसे गिरते देखा कहा सतपति कभी तुम्हें गिरते नहीं देखा ये क्या हो रहा है सतपति ने कहा कि ना समझ ये तेरी ही करतूत मैं सदा चलता रहा कभी मैंने स्वयं चलने की चेष्टा नहीं की तूने मुझे सचेष्ट कर दिया मेरा अहंकार बीच में आ गया सोच विचार में पड़ गया उसी में पैर लड़खड़ा गए मैं खुद ही समझ नहीं पाया कि कौन सा पहले कौन सा पीछे अब तक ये सब होता था निसर्ग से आज बीच में मैं खड़ा हो गया निसर्ग में बाधा पड़ गई मेरी शिक्षा है निसर्ग जियो शरीर की एक प्रकृति है उससे अन्यथा मत जाओ जाने की जरूरत नहीं चैतन्य की प्रकृति है इसी प्रकृति का और उच्चतम शिखर शरीर अगर बुनियाद है तो आत्मा उसी मंदिर का स्वर्ण शिखर दोनों एक ही प्रकृति के दो पहलू हैं इसी प्रकृति का नाम परमात्मा है परमात्मा कहीं और नहीं प्रकृति को समर्पण करो लड़ो मत झगड़ो मत सजाओ समारो मत अहंकार के आयोजन न करो नहीं सिद्ध पुरुष होना है न संत न महात्मा सरल होना है सहज होना है नैसर्गिक होना है स्वस्फूर्त होना है यह अगर परमात्मा पे छोड़ सको तो हो जाए बस अनुकंपा शब्द को संभाल लो वही तुम्हारी साधना और बीत जाएगी रात सुबह सुनिश्चित है सुबह है ही रात हमने पैदा की है अस्तित्व तो सदा सुबह में वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है अंधेरा हमारा अहंकार है एक अहंकार धन कमाता है एक अहंकार पद एक अहंकार त्याग करता है एक अहंकार साधना में लग जाता है ये सब अहंकार की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं समर्पण भर अहंकार की अभिव्यक्ति नहीं डाल दो सब उसके चरणों में कहो जैसी तेरी मर्जी और फिर एक बार जी कर देखो एक नया ही रस एक नया ही अमृत एक नया ही स्वाद जीवन में उठेगा वही समाधि का स्वाद है दूसरा प्रश्न भगवान प्रश्न मैं हूं अपनी सारी कमजोरियों सारी बीमारियों सभी सीमाओं सहित यानी अब मैं हूं फिलहाल एक प्रश्न हूं यानी जैसा अब मैं हूं फिलहाल एक प्रश्न हूं जवाब निसंदेह आप है फिर यह प्रश्न गिर क्यों नहीं जाता मिट क्यों नहीं जाता मर्ज हूं मैं दवा है आप फिर भी मर्ज ज्यो का त्यों है उल्टे बढ़ता जाता है रणवीर प्रश्न तुम हो जवाब मैं हूं तो प्रश्न हल कैसे होगा प्रश्न तुम हो तो जवाब भी तुम्हें ही होना पड़ेगा जवाब मैं हूं तो मेरा प्रश्न हल हो गया है जहां समस्या है वहीं समाधान चाहिए समस्या एक जगह समाधान दूसरी जगह है दोनों का मिलन ही ना होगा यही तो अड़चन है सदियों की तुम प्रश्न हो कृष्ण उत्तर तुम प्रश्न हो क्राइस्ट उत्तर तुम प्रश्न हो मोहम्मद उत्तर रहे आए मोहम्मद कृष्ण और क्राइस्ट उत्तर क्या होगा सवाल है तुम्हारा जहां प्रश्न है वहीं खुदाई करो हर प्रश्न के भीतर उत्तर छिपा है हर समस्या की तलहटी में खोदोगे समाधान पाओगे अगर तुमने मुझे उत्तर माना तो उलझन शुरू हुई मेरा उत्तर तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा विश्वास होगा ज्ञान नहीं हो सकता मेरा उत्तर तुम्हारे भरोसे पर निर्भर होगा तुम्हारी प्रतीति और साक्षात्कार पर नहीं तुम मुझ पर श्रद्धा कर सकते हो मगर श्रद्धा ऊपर ऊपर ही होगी तुम्हारे प्राणों में तो कहीं संदेह बना ही रहेगा इसलिए बीमारी घटेगी नहीं और जैसे जैसे तुम दवा करोगे मर्ज बढ़ेगा क्योंकि पहली बीमारी थी वह तो रहेगी ही अब मेरे उत्तरों को तुम जो पकड़ोगे उनसे नई बीमारियां पैदा होंगी पहला प्रश्न तो अपनी जगह मेरा उत्तर और नए दस प्रश्न खड़े करेगा इससे बीमारी बढ़ेगी नहीं ये कोई सुलझने सुलझाने का रास्ता नहीं तुम अपने ही भीतर जाओ आत्मदर्शन करो अपना साक्षात्कार करो चलो सही कि तुम प्रश्न हो परमात्मा प्रत्येक को प्रश्न की तरह ही जन्म देता है और आशा रखता है कि तुम उत्तर की तरह मरोगे प्रश्न की तरह भेजता है उत्तर की तरह चाहता है कि तुम वापस लौटो जगत एक अनुभव एक पाठशाला जहाँ प्रश्न उत्तर बनते एक कसौटी जहाँ कसा जाता है जीवन अनुभव में जहां पकता है जीवन अनुभव में लेकिन हम हैं सब कमजोर कायर हम उधार उत्तर स्वीकार कर लेते कौन खोजे कौन खोज की झंझट न पड़े खोजना तलाशना जिज्ञासा तो लंबी यात्रा है और खतरों से भरी और हजार अड़चनों को पार करना होगा लेकिन किसी और का उत्तर स्वीकार कर लेना तो बड़ा सस्ता है तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता है लेकिन अगर मेरी श्वास लेने से तुम्हें श्वास नहीं मिलती तो मेरे समाधान होने से तुम्हारा समाधान नहीं होगा अगर मेरा जीवन तुम्हारा जीवन नहीं बन सकता अगर तुम लगने हो तो मेरे पैर तुम्हारे पैर नहीं बनते और अगर तुम अंधे हो तो मेरी आंखों से तुम देख ना सकोगे तुम्हें तुम्हारी आंखों की चिकित्सा करवानी ही होगी मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं ज्ञान देने में मेरी जरा भी उत्सुकता नहीं मैं चाहता हूं या तो तुम ध्यान लो या भक्ति लो ध्यान लो या भक्ति दोनों ही स्थिति में तुम्हें स्वयं ही समाधान बनना होगा और जिस दिन कोई स्वयं समाधान बनता है उस दिन कैसे प्रश्न सारे प्रश्न गिर जाते जिसे दिया जले और अंधकार समाप्त हो जाए ऐसी तुम्हारे भीतर की रोशनी जलनी चाहिए सारे प्रश्न सुंदर हैं क्योंकि प्रश्न न होते तो जिज्ञासा न होती जिज्ञासा ना होती तो तुम खोज पर न निकलते लेकिन तुम कर लेते हो बेईमानी प्रश्न तो सच्चे हैं उत्तर उधार ले लेते हो इससे पांडित्य पैदा भला हो जाए मगर जीवन में समाधान नहीं हो सकता समाधान तो केवल समाधि से होता है और समाधि का अर्थ है स्वयं के भीतर एक ऐसे चैतन्य की दशा जहां न कोई विचार है न कोई भाव है न कोई स्मृति न कोई कल्पना जहां चित्त की सारी लहरें शांत हो गई जहां चित्त के सारे व्यापार निरोध को उपलब्ध हो गए चित्त वृत्ति निरोध बस वह योग की दशा है जहां झील चित्त की बिल्कुल ही तरंग शून्य हो गई उस तरंग शून्य झील में चांद का प्रतिबिंब बन जाता है ऐसे ही तुम्हारी चेतना की शांत शून्य अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है सत्य का साक्षात्कार ज्ञान है मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं मेरा सत्य तुम्हारे लिए तो झूठ हो जाएगा उधार सत्य झूठ हो जाते अगर उधार सत्य सत्य हो सकते होते तो एक बुद्ध ने पा लिया था सब बुद्ध हो गए होते एक कबीर ने पा लिया सब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते एक नानक ने पा लिया अब सबको पाने की क्या जरूरत होती यही भेद है विज्ञान और धर्म का विज्ञान में एक व्यक्ति उत्तर पा लेता है वही उत्तर सबका उत्तर हो जाता है क्यों क्योंकि विज्ञान बाहर की खोज जो बाहर है उसे सब देख सकते अगर हम एक गुलाब के फूल को रख दें लाकर तो तुम सबको दिखाई पड़ेगा पदार्थ है विषय है विज्ञान पदार्थगत है इसलिए न्यूटन कुछ खोज ले एडिशन कुछ खोज ले कि अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ खोज ले फिर हर आदमी को बार बार नहीं खोजना पड़ेगा आइंस्टीन ने खोज लिया सापेक्षता का सिद्धांत अब सबका हो गया अब तुम्हें भी उसी खोज से गुजरने की जरूरत न रही विज्ञान वस्तुगत है वस्तुएं बाहर है बाहर का ज्ञान सार्वजनिक हो जाता है बाहर के ज्ञान की परंपरा बनती उसे लिया दिया जा सकता है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा सकता है शास्त्र से समझा जा सकता है शब्द में अभिव्यक्त हो जाता है लेकिन धर्म है भीतर की अनुभूति गुलाब के फूल को तो मैं रख सकता हूँ तुम्हारे सामने सबको दिखाई पड़ेगा लेकिन गुलाब के फूल में जो सौंदर्य मुझे दिखाई पड़ रहा है उसे मैं तुम्हें कैसे दिखलाऊ गुलाब के फूल में जो काव्य मुझे अनुभव हो रहा है उसे कैसे तुम्हें अनुभव करवाऊ गुलाब के फूल में जो परमात्मा मेरे लिए प्रकट हो रहा है कैसे तुमसे उसकी मुलाकात करवाऊं अगर कहूं कि परमात्मा मौजूद है देखो कि ये रंग कि ये ढंग कि ये गंध कि ये सौंदर्य परमात्मा का है तो तुम कंधे बिछकाओगे तुम कहोगे गुलाब के फूल तक तो बात ठीक है आगे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता हमें कोई परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत ही पदार्थगत है वो तो पूछे कि सौंदर्य सौंदर्य कहाँ है फूल है ये समझ में आता है मगर सौंदर्य कहाँ है दिखाओ परीक्षण हो सके इस ढंग से दिखाओ प्रयोग हो सके इस ढंग से दिखाओ सौंदर्य भी दिखाया नहीं जा सकता और जिस काव्य की मैं बात कर रहा हूं उस काव्य को तो तुम भी जिस दिन जान सकोगे अनुभव कर सकोगे बस उसी दिन जान सकोगे अनुभव कर सकोगे हाँ मेरी बात चाहो तो मान लो और अक्सर यही हुआ है मुझसे तुम्हें प्रेम है मुझसे तुम्हें लगाव है तो मैं जो कहूंगा प्रेम की छाया में तुम उसे अंगीकार कर लोगे तुम उसे स्वीकार कर लोगे लेकिन ये स्वीकृति तुम्हारे जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकती है ये स्वीकृति बाधा बन जाएगी मुझसे तो प्रेम करो लेकिन मैं जो कहता हूँ उसकी तलाश करनी होगी मेरा प्रेम तुम्हें खोजी बना सके तो ही तुमने मुझे प्रेम किया मेरा प्रेम तुम्हें विश्वासी बना दे तो फिर तुम हिंदू मुसलमान ईसाई जैसे ही एक और नए ढंग के विश्वासी हो गए फिर मैं जिस नई धार्मिकता की बात कर रहा हूँ वह पैदा न हुई फिर तुम्हें एक नया संप्रदाय और मिल गया पुराने कारागृह से छूटे एक नया काराग्रह मिल गया और पुराने से तो तुम छूटना चाहते थे उब गए थे रहते रहते नए से साथ तुम छूटना भी ना चाहो शायद नया प्रीति कर लगे पुराना तो माँ बाप ने दे दिया था नया तुमने खुद चुना इसलिए पुराने में तुम्हारा अहंकार उतना जुड़ा नहीं था जितना नए में तुम्हारा अहंकार जुड़ेगा अपना चुनाव है स्वभाव था तुम नए से ज्यादा जकड़ जाओगे पुरानी जंजीरें तो तोड़ी जा सकती हैं छीन हो जाती हैं समय के कारण लेकिन नई जंजीरें तो मजबूत होती अभी अभी ढल के आती है कारखाने से अभी तो बहुत मजबूत होती मेरे प्रेम में अगर तुमने मेरी बातें मान ली तो वे बातें केवल जंजीरें बनेंगी और नई जंजीरें पुरानी जंजीरों से भी ज्यादा खतरनाक है मेरा प्रेम तो सिर्फ चांद की तरफ उंगली का इशारा है उंगली मत पकड़ लेना जैन फकीर रिंझाई कहा करता था मेरी उंगली मत चाटो मेरी उंगली मत काटो चांद की तरफ देखो don't bite my finger look at the moon लेकिन लोग अंगुली चूसना ज्यादा पसंद करते जैसे छोटे बच्चे अंगुली चूसते ऐसे ही बड़े बच्चे धर्म के जगत में तो छोटे ही हैं वहां तो बच्चे ही धर्म के जगत में तो तुम अभी अपने झूले में ही झूल रहे हो धर्म के जगत में तो तुम्हारी स्थिति वही है जो छोटे बच्चे की जिसको लॉरी सुनाई जा रही जिसे नींद की व्यवस्था की जा रही कि जो किसी तरह सो जाए छोटे बच्चों को सुलाने का आयोजन किया जा रहा है एक महिला का बच्चा रो रहा था आधी रात घर में कोई मेहमान ठहरा था उसने कहा कि आप लौरी गा के बच्चे को सुला क्यों नहीं देखी उस महिला ने कहा कि लौरी गाने पर मेरे पड़ोस के लोग ऐतराज करते अतिथि ने कहा मैं कुछ समझा नहीं उस महिला ने कहा पड़ोस के लोग कहते हैं तुम्हारी लौरी से तुम्हारे बच्चे का रोना ही अच्छा लगता है लोरिया सुना दे छोटे बच्चों को लेकिन बड़ों को तो जगाने का कारण बन जाए उनकी तो नींद तोड़ दे धर्म के जगत में अभी तुम छोटे बच्चों की तरह हो तुम लौरी ही चाहते हो तुम्हारे गीता तुम्हारे कुरान तुम्हारे वेद और क्या है तुमने उन्हें लोरियों में बदल दिया है तुम उनको गाते हो और सो जाते हो तुम गुनगुनाते हो और सो जाते हो नींद की सामक दवाएं हो गई और मुफ्त और सस्ती और अहंकार को भी बड़ा तृप्त करने वाली क्योंकि धार्मिक भी परंपरा से आदृत भी मैं तुम्हें कोई लॉरी नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं चाहे कर ही क्यों ना लगे छोटा बच्चा उंगली चूसने लगता वो भी उसके सोने का ढंग है अंगुली से वो अपने को धोखा देता लॉरी से उसकी माँ उसको धोखा देती माँ कहती सो जा बेटा मुन्ना राजा सो जा बेटा बार बार दोहराती मुन्ना राजा सो जा बेटा अब तुम बार बार किसी से भी दोहराओ बहुत ज्यादा दोहराओ सो जा बेटा सो जा बेटा तो बच्चा क्या बेटे का बाप भी सो जाए उसकी खोपड़ी पर अगर यही बजाते रहो कि सो जा बेटा सो जा बेटा तो करे भी क्या भाग सके नहीं भाग के अब जाए कहा तो नींद ही भागने का एक उपाय है बच्चे क्यों सो जाते हैं बार बार तुम्हारी बकवास सुन के और कहा जाए मां बैठी है छाती पे हाथ रखे और दोहराई चली जा रही सोचा बेटा पहले बेटा थोड़ा कुरमुनाता है करबड़ बदलता है भाग भी सकता नहीं इस अंधेरी रात में अब जाए तो जाए भी कहा फिर एक ही भागने का उपाय बचता है कि नींद में भाग जाए किसी तरह ये बकवास सुनना बंद हो तो सो जाता है इसी तरह तुम दोहरा रहे हो लौरिया अगर माँ दोहराने को न मिले तो बच्चा अपना अंगूठा चूसता है अंगुली चूसता है उससे भ्रम देता है माँ के स्तन का खुद को भी धोखा दे देता है ऐसे ही धर्म के जगत में बड़े बच्चे वो शास्त्रों की उंगलियां चूसने लगते हैं सदगुरुओं की उंगलियां चूसने लगते हैं सोचते हैं पोषण मिल रहा है ये पोषण नहीं है जहर है उंगलियां चूसने के लिए नहीं मेरी उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही रणवीर मेरी बातों को पकड़ो मत अन्यथा जो जो दवा करोगे क्यों तुम मरीज होते जाओगे क्यों तुम बीमारी बढ़ेगी मेरा इशारा समझो मैं क्या कह रहा हूं उसको दोहराओ मत उसको बौद्धिक संपदा मत बनाओ मैं क्या कह रहा हूं उसे जीवन का आचरण बनाओ उसे अंतस की रूपांतरण की प्रक्रिया बनाओ उससे गुजरो मैं रसायन सिखा रहा हूं यहां कोई दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाया जा रहा है जीवन को बदलने की रसायन दी जा रही तुम कहते हो प्रश्न मैं हूं अपनी सारी कमजोरियों सारी बीमारियों और सभी सीमाओं सहित यानी जैसा अब मैं हूं फिलहाल एक प्रश्न हूं जवाब निसंदेह आप हैं फिर यह प्रश्न गिर क्यों नहीं जाता मिट क्यों नहीं जाता ऐसे नहीं गिरेगा ऐसे नहीं मिटेगा उत्तर भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा तो गिरेगा अंधेरा तुम हो रोशनी भी तुम्हें ही होना होगा भटके तुम हो राह पर भी तुम्हें ही आना होगा आंखें तुमने बंद की है मेरी आंखें खुली है मगर मेरी खुली आंखें तुम्हारी बंद आंखों से क्या संबंध तुम मुझे मान भी लो मुझे आदर भी दो सम्मान भी दो तुम कहो कि मेरे गुरु की आंखें खुली तो गुरु की आंखें खुली फिर भी तुम्हारी आंखें बंद है सुबंध है काम तुम्हारी आंखें पड़ेंगी अपने दिए खुद बनो सदगुरु यही सिखाता है अपने दिए खुद बनो और क्या है रास्ता बनने का प्रश्न के उत्तर मत खोजो क्योंकि उत्तर कहाँ खोजोगे उत्तर तो बाहर खोजे जाते शास्त्र में सदगुरुओं से समाज में नहीं प्रश्न के उत्तर मत खोजो प्रश्न के साक्षी बनो तुम्हारे भीतर प्रश्न ही प्रश्न है कमजोरियां ही कमजोरियां हैं बिल्कुल स्वाभाविक है ऐसी ही सबकी जैसा है यह कुछ विशिष्ट बात नहीं अपने को नाहक निंदित मत करना ऐसी ही सबकी दशा है यही स्वाभाविक है इसे अंगीकार करो और इसके साक्षी बनो भीतर खड़े होकर देखो अपनी सारी बीमारियां अपने सारी सीमाएं अपने सारे प्रश्न अपनी सारी समस्याएं सिर्फ देखो दृष्टा बनो कुछ और करना मत छेड़छाड़ नहीं रोक टोक नहीं अदल बदल नहीं हस्तक्षेप नहीं दूर खड़े होकर जितने दूर खड़े होकर देख सको उतना शुद्ध क्योंकि जितने दूर खड़े होकर देख सको उतना परिप्रेक्ष स्पष्ट होता है जैसे कोई पहाड़ पर खड़ा होकर नीचे के मैदानों को देखे जैसे विहंगम दृष्टि होती पक्षी की आकाश में उड़ता है और नीचे देखता है सब दिखाई पड़ता है दूर दूर तक दिखाई पड़ता है दूरी पैदा करो साक्षी भाव सीखो बस बैठ के घंटे पर रोज देखो सिर्फ देखो दर्शन मात्र नहीं बदलना कुछ अभी जल्दी मत करना कि ये प्रश्न बदला जाए कि इसका उत्तर चाहिए कि ये समस्या हटाई जाए समाधान लाया जाए कि ये बीमारी तो ठीक नहीं स्वस्थ होना चाहिए उपचार कहाँ है औषधि कहाँ है नहीं इस सब में मत पढ़ना जो है बुरा भला जैसा है तो बिना किसी निर्णय के और बिना किसी पक्षपात के बिना शुभ अशुभ की धारणा को लाए सिर्फ साक्षी बन के देखो और तुम चकित हो जाओगे चमत्कृत हो जाओगे जैसे जैसे तुम्हारी देखने की क्षमता प्रगाढ़ होगी वैसे ही वैसे दृश्य विलीन होने लगेंगे इधर दृष्टा जगेगा उधर दृश्य क्षीण होने लगेंगे क्योंकि वही ऊर्जा जो दृश्य बनती है वही ऊर्जा दृष्टा बन जाती जिस दिन तुम्हारा दृष्टा पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा उस दिन तुम पाओगे न बचे कोई प्रश्न न कोई समस्याएं न कोई कमजोरियां न कोई सीमाएं अनायास तुम मुक्त हो गए हो आ गई अपूर्व घड़ी आ गया वह अद्भुत क्षण जहां व्यक्ति मिट जाता है और परमात्मा शुरू होता है जहां सीमा का अतिक्रमण होता है जहां बुद्धत्व का जन्म होता है समस्या है तो समाधान भी है और बीमारी है तो औषधि भी है लेकिन बाहर नहीं बीमारी बाहर औषधि भी नहीं बीमारी भीतर है भीतर ही औषधि है तो जिसने बीमारी दी है उसने औषधि का इंतजाम पहले से ही कर दिया है तुमने कहा पर सुनी ना जो चोच देता है वो चून पहले ही व्यवस्थित कर देता है भूख देता है भोजन पहले बना देता है बच्चा पैदा भी नहीं होता और माँ के स्तन में दूध आना शुरू हो जाता बच्चा पैदा हुआ कि माँ का स्तन दूध से भर गया तुम क्या सोच रहे हो बच्चा कुछ इंतजाम कर रहा है इंतजाम हो रहा है प्रकृति की एक अद्भुत लयबद्ध व्यवस्था है साक्षी बनो साक्षी बनने में ही सत्य है समाधि है सम्यक्त्व है तीसरा प्रश्न भगवान क्या परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है रामेश्वर परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि परमात्मा स्वयं अस्तित्व है और सब चीजों का अस्तित्व होता है परमात्मा का अस्तित्व नहीं होता परमात्मा तो अस्तित्व का ही दूसरा नाम है परमात्मा कहो या अस्तित्व कहो एक ही बात मेरा अस्तित्व है तुम्हारा अस्तित्व है वृक्षों का पहाड़ों का अस्तित्व है परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं वृक्षों का जो अस्तित्व है मेरा जो अस्तित्व है तुम्हारा जो अस्तित्व है पहाड़ों का जो अस्तित्व है उस समग्रीभूत अस्तित्व का नाम परमात्मा है तो पहली बात परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए सिद्ध करने की बात ही नहीं उठती इतना तय है कि अस्तित्व है क्या अस्तित्व को भी सिद्ध करना होगा तुम हो इतना तो पक्का है शेष सब होगा स्वप्न मगर एक बात तो पक्की है कि सपना देखने वाला सत्य है सपना देखने के लिए भी कम से कम सपना देखने वाला तो चाहिए ही चाहिए सपना देखने वाले के बिना तो सपना भी नहीं हो सकता तो तुम तो सत्य हो और तुम अगर सत्य हो तो परमात्मा सत्य है तुम्हारे होने का नाम ही परमात्मा है इस होने की फिर बहुत ऊंचाइयां है ये होना कीचड़ में पड़ा हो जैसे कि कोहनूर कीचड़ में पड़ा हो तो संसार ये कोहनूर कीचड़ से उठाए धुल जाए निखर जाए पारखी के हाथ लग जाए जोहरी को मिल जाए और चौड़ी इस पर धार रखे चमक दे इस पर पहलू उगाड़े तो यही कोहनूर मोक्ष बन जाता है निर्माण बन जाता है जब कोहनूर हीरा मिला था तो आज उसका जितना वजन है इससे तीन गुना ज्यादा वजन था मगर कीमत कुछ भी न थी वजन तीन गुना ज्यादा था मगर कीमत कुछ भी न थी दो कौड़ी का न था सदियों में जोहरी उस पर मेहनत और मेहनत करते रहे कलाकारों ने उसे निखारा और निखारा और निखारा इस निखारने में नए नए पहलू उघाड़ने में कोहनूर का वजन तो कम हो गया एक तिहाई बचा लेकिन आज कीमत उसकी अरबों रुपए अकूत है इधर वजन कम हुआ उधर कीमत बढ़ी स्थूलता कम हो गई सूक्ष्मता बढ़ी तुम हो तो परमात्मा है रामेश्वर तुम्हारा अस्तित्व प्रमाण है और क्या प्रमाण चाहते हो लेकिन लोग चाहते हैं कि परमात्मा इस तरह सिद्ध किया जाए जिस तरह विज्ञान चीजों को सिद्ध करता है जिससे दो दो चार ऐसे सिद्ध किया जाए कि सौ डिग्री पे पानी भाप बनता है ऐसे सिद्ध किया जाए सिद्ध किया जाए परमात्मा इस तरह की सिद्ध नहीं होगा इस तरह जो सिद्ध करने चलेंगे उनसे सिर्फ इतना ही होगा कि परमात्मा असिद्ध हो जाएगा ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई कान से फूलों की गंध लेना चाहे कि आंख से संगीत सुनना चाहे कि नाक से रोशनी देखना चाहे कान गंध लेने को नहीं बने हाँ, कान से संगीत सुना जा सकता है अगर तुम कानों से पूछोगे प्रमाण गंध का तो कान कहेंगे गंध होती ही नहीं अगर नाक से पूछोगे अस्तित्व के संबंध में रंगों के तो नाक कहेगी रंग कभी सुना नहीं हाँ, किताबों ने भी नहीं बताया हाँ, शास्त्रों में भी नहीं लिखा रंग होते ही नहीं आपसे पूछो ध्वनि की बात आप क्या करेगी आंख निकट इंकार करेगी इसलिए विज्ञान इंकार करता परमात्मा का कारण कारण ये नहीं कि परमात्मा नहीं कारण यही कि विज्ञान की जो विधि है स्कूल है उससे टीका तो पकड़ में आ जाती है समझ छूट जाता है बड़ी स्कूल है वाय परमात्मा के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकता इससे परमात्मा असिद्ध नहीं होता इससे केवल विज्ञान की सीमा सिद्ध होती परमात्मा तो सिद्ध होता है अंतर अनुभव में इसलिए तो ये मत पूछो कि क्या परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है ज्यादा अच्छा हो कि पूछो कि मैं अपने अस्तित्व को कैसे जानू पूछो कि आत्मा को कैसे जानू क्योंकि जिसने आत्मा जानी उसने परमात्मा जाना जिससे अपने भीतर आत्मा का अनुभव हुआ उसने तत्क्षण प्रकट हो गया कि सबके भीतर यही चैतन्य विराजमान है अलग अलग रूप अलग अलग ढंग अलग अलग दिशा मगर एक ही प्रकट कर रहा है जिसने अपने भीतर पकड़ लिया उसे उसने सबके भीतर पकड़ लिया और अपने भीतर ही पहले पकड़ा जा सकता है लेकिन लोग अपनी तरफ तो देखते ही नहीं लोग बाहर खोज रहे भाग रहे परमात्मा काशी में या काबा में कहा चमकना है वेद में की कुरान में की पैदल की धर्म पर में कहा परमात्मा है कहा जाए किस मंदिर में किस मस्जिद में भीतर जाओ वही है कादा वही है काशी वही है कैलाश लेकिन भीतर क्यों जाते ही नहीं वहां गहन उदासी छाई वहां बिल्कुल तुम मुर्गा हो गए हो क्योंकि गए ही कभी नहीं तो गर्द गुबार जम गई सदियों की गर्द गुबार है न पूछो कौन है क्यों राह में नाचार बैठे मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे उधर पहलू सत्तम उठे किधर दुनिया से हम उठे चलो हम भी तुम्हारे साथ ही तैयार बैठे किसे फुर्सत की सर्ज खिदमत उल्फत बजा लाए तुम बेकार बैठे हो न हम बेकार बैठे जो उठे हैं तो घर में जिस जुए दोस्त उठे हैं जो बैठे हैं तो महवे आजुए यार बैठे मकामे दस्तगिरी है कि तेरे रहुए उल्फत हजारों जुस्त जुए करके हिम्मत हार बैठे ये पूछो कौन है क्या मुद्दा है कुछ नहीं बाबा गदा है गदा है और जेरे साए दीवार बैठे ये हो सकता नहीं आजाद से मैं खाना खाली हो वो देखो कौन बैठा है वही सरकार बैठी हिम्मत हारती है लाचार हो गए नाचार हो गए भीतर पैर ही नहीं उठता न पूछो कौन है क्या मुद्दा है कुछ नहीं बाबा गदा है और तेरे साये दीवार बैठे मत पूछो कि कौन है पता भी नहीं खुद की कौन है मत पूछो कि मुद्दा क्या है जीवन का लक्ष्य क्या है कुछ नहीं बाबा गदा है भिखारी है और चेहरे साये दीवार बैठे और दीवार की छाया मिल गई तो उसके किनारे बैठे पूछे मत की कौन है क्या है ये जिंदगी ऐसी जिंदगी परमात्मा के अस्तित्व को नहीं पा सकती लेकिन परमात्मा के अस्तित्व को पाया जा सकता है जरा तुम्हें बदलना पड़े तुम्हें थोड़े अपने जीवन को नया ढंग नया रंग नई शैली देना पड़े जो उठे हैं तो घर में जुस्त हुए जो जो उठे हैं तो घर में जुस्त जुए दोस्त उठे जो बैठे हैं तो महवे आजुए यार बैठे जिस तरह उठो कि उसकी तलाश के लिए उठ रहे हो इस तरह बैठो कि उसी की याद में जुड़े बैठे हो जो उठे हैं तो घर में जुस्त जुड़े दोस्त उठते दोस्त की खोज के लिए उठो जो बैठे हैं तो महवे जुड़े यार बैठे तो तल्ली उसकी याद में ऐसे बैठे यही प्रार्थना यही पूजा है यही अड़चन तो जरूर मिल जाएगा उसका प्रमाण लेकिन प्रमाण भीतर मिलेगा बौद्धिक नहीं होगा प्रमाण अस्तित्वगत होगा और एक बार भीतर दिखाई पड़ जाए तो सारा संसार उसी का आदर हो जाता है नजर में रूह में दिल में समाये जाते हैं हर एक काल में इनका बिछाए हैं जो उठ सके थे न खुद हुस्न के उठाए से वो पर्दा हाय दुई अब उठाए जाते छिपा छिपा के जिन्हें मसलत ने रखा था वो जल के अब सारे महफिल दिखाए जाते ये तस्वर हुस्न है आतस कदा मोहब्बत का बजाय समा यह दिल जलाए जाते हैं तमाम आलमे महसूस आंख उठता है जब आंख से भी आंसू बहाए जाते हैं हमारा हाल तो देखा हमारा चरफ भी देख उठती नहीं दम उठाए जाते तलाश लाजिमाए आशिकी नहीं सागर न ढूंढने पे भी वो हम न पाए जाते जो अपने भीतर झांक के देखता है उसे चकित होके ये सत्य पता चलता है तलाश लाजिमाए आपकी नहीं सागर सच्चे प्रेमी को उसकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं तलाश लाजिमाए आपकी नहीं सागर न ढूंढने पे भी वो हम में पाए जाते जो अपने भीतर बैठता है वो चकित होकर देखता है न ढूंढने पे भी वो हमें पाए जाते फिर तुम ढूंढो या न ढूंढो पाओगे ही पाओगे ही पाओगे बच नहीं सकते चलो भीतर रामेश्वर उसके प्रमाण न पूछ उसकी राह पूछ मार्ग पूछ और मार्ग बाहर की तरफ नहीं जाता बाहर की तरफ संसार का विस्तार है माना कि उसमें भी परमात्मा छिपा है मगर तुम उसे पहचान न पाओगे पहली पहचान भीतर पहली मुलाकात भीतर पहले अपने से संबंध जोड़ लो फिर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो तुम्हें दिखाई न पड़े पहले भीतर का दिया चलाओ तो तुम्हें अंधेरे में भी दिखाई पड़ने लगी ये तत्व हुस्न है आदत प्रजा मोहब्बत का ये प्रेम का मंदिर है ये अग्नि का मंदिर है बजाय समय यहाँ दिल जलाए जाते और दिल को जलाने की कला सीखो भीतर की मसाल चलाओ भक्त की जल्दी ज्ञानी की जल्दी प्रेमी की जल्दी दीवानों की जलती बुद्धिमान यही पूछते रहते हैं क्या परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है और बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धि इस संसार में कोई दूसरा नहीं वे यही पूछते रहते हो यू ही समय जमाते रहते न अस्तित्व सिद्ध होता है न वे खोज कर निकलते उनका तर्क भी ठीक है वो कहते जब तक अस्तित्व सिद्ध न हो जाए तब तक हम खोज तो कैसे निकले और जिन्होंने खोजा है उनका कहना है जब तक तुम खोजो ना तब तक अस्तित्व सिद्ध कैसे हो बड़ी मुश्किल इन दो में से कुछ तुम्हें एक तय करना पड़े मुल्ला नसरुद्दीन नदी के किनारे गया तो तैरना सीखने जो उस्ताद उसे तैरना सिखाने को थे वो तो एकदम चौंके क्योंकि मुल्ला जैसे ही तट पड़ गया नदी के पत्थर पैर से चल गया काई जमी होगी ध्यान से गिरा एक पैर तो पानी में भी पड़ गया कपड़े भी जीत गए एकदम उठाओ घर की तरफ भागा उस्तान ने कहा कि बड़े मियाँ कहा जाते मुल्ला ने कहा जब तक तैरना न सीखू नदी के पास तैरना रखना ये तो खतरनाक धंधा है ये तो उसकी दुआ कहो ये तो उसकी कृपा कहो अगर जरा और किसम के अंदर चला गया हो तो, तो तुम तो खड़े थे बाहर तुम तो देखते ही रहे हम काम से गए थे अब तो तैरना सीख लूंगा तभी पानी के पास फटूंगा मगर तैरना ना सीखोगे कोई गद्य तकिए बिछा के तैरना सीखा जाता है और गद्य तकिए बिछा के तुम कितना ही तैरने का अभ्यास कर लो पानी में काम ना आएगा ख्याल में हाथ पैर पटकना सीख लोगे गद्य तकिए पर लेकिन पानी में सब बेकाम हो जाए नहीं तैरना सीखने के लिए भी पानी के पास जाना ही पड़ता है परमात्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध करोगे तर्क से विचार से तो, तो तुम उल्टे काम में लग गए परमात्मा को जाना है लोगों ने निर्विचार से परमात्मा को जाना है लोगों ने हृदय से और तुम सिद्ध करने लगे बुद्धि से नहीं सिद्ध होगा तो आज नहीं कल तुम कहोगे है ही नहीं और एक बार तुम्हारे मन में ये बात गहरी बैठ गई कि है ही नहीं तो बस अटक तो तुम्हारा विकास अवृत हुआ गलत प्रश्न न पूछो पूछो कि क्या मैं हूँ पूछो कि कैसे मैं जानू कि मैं कौन हूँ परमात्मा को छोड़ो परमात्मा से लेना देना क्या है पहले पानी की बूंद तो पहचान लो फिर सागर को पहचान ले लो अभी बूंद से भी पहचान नहीं और सागर के संबंध में प्रश्न उठाए वे प्रश्न व्यर्थ उनके उत्तर सिर्फ ना समझ देने वाले मिलेंगे हाँ किताबों में इस तरह के प्रमाण दिए हुए बड़े बड़े प्रमाण दिए बड़े पंडित शास्त्री प्रमाण देते हैं ईश्वर के होने का उनके प्रमाण सब बचता ने दो कोड़ी क्योंकि प्रमाण कोई दिया ही नहीं जा सकता है क्या प्रमाण है उनके इस तरह के प्रमाण की जैसे कुमार घड़ा बनाता है बिना कुमार की घड़ा कैसे बनेगा इसी तरह परमात्मा ने जगत को बनाया वो कुंभकार कुमार कर दिया शुद्ध इसको भी जरा कोई इन बुद्धिमानों से पूछे कि अगर घड़े को बनाने के लिए कुम्हार की जरूरत है तो कुम्हार को बनाने के लिए भी तो किसी की जरूरत है वो कहते हैं ना हाँ, परमात्मा ने कुम्हार को बनाया फिर तुम्हारी दलील का क्या होगा परमात्मा ने संसार बनाया फिर परमात्मा को किसने बनाया यही तो बुद्ध ने पूछा महावीर ने पूछा और पंडितों की बोलती बंद हो गई पंडित तो नाराज हो गए इसको वे अति प्रश्न कहते तुम पूछो कि संसार किसने बनाया तो सम्यक प्रश्न और कोई पूछे कि भाई जब बिना बनाए कोई चीज बनती ही नहीं तो परमात्मा को किसने बनाया तो अति प्रश्न तो जवान काट ली जाएगी ये न्याय हुआ तुम्हारा ही तर्क जरा आगे खींचा गया और फिर इसका अंत कहाँ होगा अगर तुम कहो कि हाँ परमात्मा को फिर और किसी बड़े परमात्मा ने बनाया और उसको फिर और किसी बड़े परमात्मा ने बनाया तो इसका अंत कहाँ होगा यह तो अंतहीन श्रृंखला हो जाएगी व्यर्थ श्रृंखला हो जाएगी नहीं ऐसे प्रमाणों से सब सिद्ध नहीं होता ऐसे प्रमाणों से सिर्फ प्रमाण देने वालों की न समझी बुद्धिहीनता असंवेदनशीलता सिद्ध होती और बुद्धि सिद्ध नहीं होता परमात्मा सिद्ध नहीं होता सिर्फ प्रमाण देने वालों का बुद्धिपन सिद्ध होता है बुद्ध परमात्मा का प्रमाण नहीं देते बुद्ध परमात्मा का प्रमाण बनते वेद को समझ लेना बुद्ध प्रमाण बनते हैं परमात्मा का बुद्ध प्रमाण होते हैं परमात्मा का मैं तुमसे कहूंगा तुम भी प्रमाण बनो तुम भी प्रमाण बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर भी जिद्दत छिपा पड़ा है झरने को तोड़ने की जरूरत है जरा चट्टान हटाओ विचारों और फूटने दो भाव का झरना नाचो गाओ जीवन के उत्सव को अनुभव करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि परमात्मा जिस दिन तुम जानोगे कि जीवन एक रार है एक महोत्सव है राग से रंग से भरा एक इंद्रधनुष सतरंग है एक संगीत है अद्भुत स्वरूप परमात्मा का प्रमाण भी है हालांकि तुम वर्तमान किसी और को भी ना दे सकोगे गूंगे का गुण हो जाता है वह अनुभव मगर धन है वे जिन्हें कुछ ऐसा अनुभव मिल जाता है जिसे वे कह नहीं पाते इस जगत में सर्वाधिक धन रही है सीधे गूंगे का गुड़ मिल जाता है भगवान मेरी शादी होने वाली इससे मेरी सत्य की खोज कुंठित होगी या इससे सहयोग मिलेगा प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे सत्यानंद भारती सब तुम पर निर्भर है इस जगत की कोई परिस्थिति निर्णायक नहीं होती निर्णायक होती तुम्हारी मनस्थिति समझदार तुम नर्क में परमात्मा को खोज लेते और ना समझ स्वर्ग में भी उसे भूल जाते तुम पे निर्भर है सुखनाथ को किसी ने पूछा कि, मैं क्या करूं शादी करूं या ना करूं आपसे पूछने आया हूं और बड़ी दूर से पूछने आया हूं क्योंकि तो सुखरात निश्चित ही अनुभवी था शादी जिस स्त्री से हुई थी पहुंची हुई स्त्री थी सुकरात को ऐसा सताया कुछ न कुछ कारण तो सुकरात की था आखिर दार्शनिक पति के साथ रहना कोई आसान खेल नहीं सुकरात तो खोया रहता जीवन के रहस्यों में का उसके होश कहा तो पत्नी पड़ती होगी नाराज होती होगी परेशान होती होगी पत्नी ईर्षा करती होगी दर्शन शास्त्र से दर्शन शास्त्र तो सोते ही पत्नी जैसा ही मालूम होता होगा सुकरात दर्शन शास्त्र में ज्यादा उत्सुक मुझ में कम बैठता भी होगा पत्नी के पास तो सोचता तो होगा आकाश तो एकदम पत्नी का ही कसूर था ऐसा कहना भी ठीक नहीं लेकिन पत्नी भी टूटी हुई सुकरात जैसे अद्भुत व्यक्ति को भी उसने बहुत सताया एक बार के लाभ उपस्थित केतली प्राय की भली शुक्र आचरण को क्योंकि अपने शिष्यों से बात कर रहा था चाय बन के तैयार थी और वो तीन बार बोला चुकी थी जब आ भी जाओ चाय पी भी लो ठंडी हुई जा रही जब सुकरात अपने शिष्यों से बातचीत में लगा ही रहा और आया ही नहीं आया ही नहीं तो फिर उसने चाय ठंडी नहीं होने की फिर गर्मी चाय ला उसमें परुडेल अब ऐसे नहीं पीते तो ऐसे पियो सुखराज का चेहरा सदा के लिए आधे जल गया आधा जला रहा काला हो गया लेकिन सुखराज चुपचाप कुछ बोला नहीं पत्नी तो चली गई क्रोध में चाय उठे पर सुखराज ने जब बात टूट गई कि वही बात शुरू कर दी एक शिष्य ने पूछा आप कुछ कहेंगे नहीं ये पत्नी ने जो दुर्व्यवहार किया सुखराम ने कहा उसका कृत्य वह जाने वह सोच मेरा क्या लेना लेना है और आधा चेहरा काला हो गया इससे मेरी खोज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और परमात्मा मुझे कुछ इस कारण इनकार नहीं कर देगा गो नहीं विचारणी नहीं मगर तुम ध्यान रखना जो कभी इतना ज्यादा निरपेक्ष हो कि पत्नी उसके साय भी उंडेल दे और वो कुछ न बोले पत्नी और आग बबूला न हो जाए तो क्या करे अतः तो उस युवक ने कहा कि आपसे पूछने आया हूँ आप अनुभवी है शादी करूँ या नहीं संसार करो तो अच्छा है वकील ने कहा आप निश्चित करो तो अच्छा मैं तो इस आशा में आया था कि आप निश्चित करेंगे कि मत करो मैं करना नहीं चाहता सिर्फ आप का प्रमाण पत्र लेने आया था कि अपने माँ बाप को कृष्ण आप क्या कहते हैं सम्राट ने कहा इसलिए कि अगर पत्नी अच्छी मिली तो जीवन में सुख जानोगे संगीत जानोगे प्रेम जानोगे रस जानोगे रस अच्छा? प्रेम संगीत उत्सव जीवन की गहराइयों में जाने के द्वार है और अगर मेरे जैसी पत्नी मिल गई मेरी पत्नी अद्भुत है अगर मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा वैराग्य भी परमात्मा को पाने का उपाय है राग से भी उसी तरफ जाते लोग राग में डुबकी मार लेते परमात्मा को पाने का वही भी एक मार्ग है और वैराग्य से भी लोग जाते पत्नी बुरी मिली तो भी अच्छा अच्छी मिली तो भी अच्छा सत्यानंद तुम पर निर्भर है बिना पत्नी के भी लोग परेशान है पत्नी के साथ भी लोग परेशान है पत्नी हो तो भी नहीं चलता पत्नी ना हो तो भी नहीं चलता लोगों के चित्त ऐसे हैं कि जो हो वही व्यर्थ मालूम होता इसलिए शुदा सोचता है धन है वे जिनकी शादी नहीं हुई और गैर शादी सुबह सोचता है कब सौभाग्य मिलेगा कि शादी हो जाए ये दुनिया बड़ी अद्भुत है यहाँ हर आदमी सोच रहा है कि दूसरा मजा कर रहा है नंदन रसुद्दीन की बेटी गुलजान से एक दिन बताया कि हमारे पड़ोसी पंडित मटकानाथ ब्रह्मचारी ने नरकों की भौगोलिक स्थिति जलवायु शासन व्यवस्था और नरकों के प्रकार कोटियां तथा दंड विधान इत्यादि विषयों पर एक विवरणात्मक सचित्र किताब लिखी नसरुद्दीन का झूठ बकवास गुलजान बोली एकदम से तुम ये कैसे कह सकते हो हो सकता है सच ही हो फिर तुमने किताब भी नहीं पढ़ी मुल्ला बोला कभी सच नहीं हो सकता अरे उस कायल ने शादी तक नहीं की नरकों के बारे में वो क्या जाने समझ कायरता के कारण अगर शादी से बचे तो जश्न पाओगे शादी कहीं पीछे के दरवाजे से आ जाएगी फायर तो बच ही नहीं सकता समझ बचा सकती लेकिन समझ कहां से लाओगे मैं तो कह दू कि ना करो शादी लेकिन वो मेरी समझ हुई तुम्हारी समझ कैसे बनेगी और मैं ऐसी भूल न करूंगा तुमसे तुम न करूँ शादी क्योंकि तुम जिंदगी का फिर मुझे गाली दोगे प्रत्येक व्यक्ति मजा लूट रहा एक हम मूल ब्रह्मचारी हुए बैठे अशुभ घड़ी में प्रश्न पूछ बैठे अगर मैं कहूं कर लो शादी तो भी मुश्किल क्योंकि तब भी तुम जिंदगी भर मुझे गाली दोगे तो जब भी पत्नी को देखोगे तभी मेरी याद आएगी न पूछा होता प्रश्न न फंसते झंझट तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया शादी का मामला ही ऐसा है करने वाले तो ठीक इस संबंध में उत्तर तक तो देना बड़ी झंझट का काम है नसरुद्दीन की पत्नी मरण सैया पर था नसरुद्दीन छाती की पीठ कह रहा था केवल जान तेरे मरते ही मैं पागल हो जाऊंगा सच कहता हूँ बिल्कुल पागल हो जाऊंगा गुलजान ने आंखें खोली मैं बोली मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं आज मरी और कल तुम दूसरी शादी कर लोगे क्यों झूठ बोलते हो मुल्ला ने तैस में आके कहा क्या बात करती हो गुलजान मैं पागल जरूर हो जाऊंगा मगर इतना नहीं कि दूसरी शादी कर अच्छा हो तुम खुद ही सोचो विचारो पत्नियों के लाभ भी है नुकसान भी है तकियों के लाभ भी है नुकसान भी इस जिंदगी में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो एक पहलू वाली अमेरिका के एक करोड़पति एंड्रू कार्नेगी से किसी ने पूछा कि आप इतने करोड़पति कैसे हो सके गरीब घर में पैदा हुए और दुनिया के सबसे बड़े जब तक ये वक्त मरे एंड्रू कार्ने की मरे तो दस अरब नगद रुपये छोड़ गए फिर पूछा जहां आप ऐसी कोई सी बात थी जिसने पागल की तरह धन की दौड़ लगा दिया एंड्रू कार्ने ने कहा कि मैंने किसी को ये बात बताई नहीं लेकिन अब मरने के करीब मैं बता सकता हूँ अब डर भी क्या है मगर तुझसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे मरने के बाद ही लोगों को बताना कम से कम मेरी पढ़ने को खबर ना हो आदमी बोला मामला क्या है वो पास करता है उसने तो मेरे कान में कहीं बिल्कुल संभाल के रखूंगा जब आप चले जाएंगे तभी प्रकट करूंगा उसके कान में पूछा के एंड्रू करने के लिए कहा कि मैं असल में धन की दौड़ में इसलिए पड़ा कि मैं देखना चाहता था कि क्या ऐसी की कोई धन की अवस्था हो सकती है जिससे मेरी कितनी चट हो जाए मगर नहीं इतना धन है मगर मैं पत्नी को तृप्त नहीं कर पाया ये सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं कोशिश में लगा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है इतना धन भी हो सकता है क्या कि मेरी पत्नी तृप्त हो जाए मगर मैं हार गया पत्नी तृप्त नहीं हुई सब तो नहीं हुई मगर एक फायदा जो दुनिया का सबसे बड़ा अरब पत्नी हो गया सिर्फ पत्नियां पत्नियों में भी गए सुना है डब्ल्यू जी की पत्नी ने उन्हें शादी के एक साल के अंदर ही लखपति बना दिया अच्छा ये डब्ल्यू जी कौन है भाई बड़े सौभाग्यशाली क्या उन्हें बहुत ज्यादा दहेज मिला नहीं दहेज तो कुछ नहीं मिला तो फिर क्या इनकी दीदी का नाम कोई लाठी फंसी नहीं अच्छा तो फिर मैं समझा शायद उनकी दीदी का कोई रिश्तेदार मर्द समय उनके नाम पर लिख गया होगा अरे नहीं भाई जिंदगी जी की दीदी ने स्वयं ही खून पसीना एक करके उन्हें एक साल में लखपति बना दिया एक साल पहले में कर्मपति थी पत्नियां पत्नियों में भी भेद है इसलिए पता नहीं सत्यानंद कैसी पत्नी की तुम तलाश कर रहे हो कैसी पत्नी तुम्हारी तलाश कर रही किस जाल में फंसोगे कुछ साफ नहीं है मगर इतना मैं तुमसे कहूंगा कि पूछते हो प्रश्न इसलिए मन में कहीं न कहीं आकांक्षा होगी कहीं तो पूछते ही नहीं मैं रायपुर में था एक युवक ने आके मुझसे पूछा कि भाई सम्राट वाली कहानी रखी मुझसे पूछा थोड़ा सा फर्क था प्रसंग में संदर्भ में उसने पूछा कि मैं शादी करूं या नहीं मैंने जरूर करो उसने कहा मैं तो आपके पास आया था इसलिए कि आप निश्चित कहेंगे कि मत करो अगर शादी करना ठीक है तो आपने क्यों नहीं की तो मैंने उससे कहा कि मैं कभी तो किसी से पूछने नहीं गया तुम पूछने आए हो मैं कभी तो किसी से पूछने नहीं गया उल्टे लोग मुझे समझाने आते थे कि कर लो एक वकील तो मेरे इतने पीछे पड़ गए थे उन्होंने अपनी सारी वकालत की समझदारी ही एक काम में लगा दी जैसे उनकी जिंदगी में ये ये कर्तव्य था जो उन्हें पूरा करना था सुबह सांझ आके बैठ जाए घंटों मैंने उनसे कहा कि कोई तो आपके जीवन का लक्ष्य है कि मेरी शादी आगे मैंने आपका क्या बिगाड़ा किन जन्मों का फल चुका रहे हो क्यों इतना समय जाया करते हो न कोई आत्म मुवक्किल है क्या हो मामला क्या है सुबह शाम आपको कहनी नहीं पड़ती आप शादी करके कोई मुसीबत में पड़ गए हो बात क्या है मुझे भी ठकवाना है क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है जिसकी पूछ कट जाती है वो दूसरे की कटवाना मामला क्या है एक आदमी से कह दिया था तो समझ में आ जाता मगर ये नियमित क्रम बन गया है कि सुबह में उठा नहीं क्या आप मौजूद शाम में से लौटा नहीं क्या आप पहले से आके बैठे अदालत वगैरह जाते हैं कि नहीं और भी कोई धंधा करते हैं कि बस यही एक धंधा है मगर उनने सिद्ध तो बांध रखी उनके अहंकार को बड़ी बड़ी गलियां खोज के लाते थे क्यों शादी करनी शादी करने में क्या फायदा क्या लाभ क्या क्या परिणाम मैंने तो उस सजा की देखी आप वकील हैं आप समझ सकते एक मजिस्ट्रेट को और कल बुलाना है एक दफा इसका निपटारा हो उनका मजिस्ट्रेट इसमें क्या करेगा मैंने कहा मजिस्ट्रेट में ये करेगा उसको निर्णय देना होगा कि कौन जीता आप शादी के पक्ष में दलीलें दें मैं विपक्ष में दलीलें दूंगा और मजिस्ट्रेट क्यों निर्णय दे दे अगर उसने कह दिया कि शादी करनी उचित तो मैं शादी करूंगा अगर उसने कह दिया शादी करनी उचित है तो तुम्हें तलाक देना पड़ेगा बस उस दिन से वो जो नदारत हुए तो फिर मैं सुबह शाम उनके घर जाने लगा आखिर उनकी पत्नी ने कहा मैं हाथ जोड़ती वो तो आपकी वजह से सुबह शाम घर नहीं आते आखिर क्यों मेरे पति की पीछे पड़े उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है आपको कोई दूसरा काम नहीं वो एकदम सुबह जल्दी उठ के घर से निकलने लगते हैं कि वो आचम होंगे और शाम को भी बाहर से आके खेल लेते हैं कि आप बैठे चले तो नहीं तो आगे बढ़ जाते क्यों हमारा जीवन तहस नहस किए दे रहे मैंने उस युवक को कहा कि मैं तो किसी को पूछने के लिए गया नहीं तुम मुझसे पूछने आए हो कुछ नहीं बताता है ही होगा कि तुम अनुभव से हो अनुभव के अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं सत्यनंद तुम दुष्ट मेरी शादी होने वाली बोलना लगता है तय ही हो गया है ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है से मेरी सबकी की खुद गुंजित होगी या इससे सहयोग मिलेगा फिक्र करो मैं अपनी फिक्र करता पांचवा प्रश्न भगवान जमाना भी दीवानी करते बुद्धिमान न तो अच्छा करते ना बुरा करते वो तो तय ही नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो इसी उपद्रव में लगे रहते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा पश्चिम के बहुत बड़े विचारक जी मूल ने किताब लिखी लिखी इस सदी में लिखी गई दस पांच किताबों में महत्वपूर्ण किताब उसमें विचार किया है क्या अच्छा क्या अच्छा बुरा क्या शुभ क्या अशुभ और दो ढाई सौ कष्टों की कठिन तर्क उलझी हुई प्रक्रिया के बाद नतीजा निकाला है कि शुभ अशुभ की व्याख्या नहीं हो सकती नतीजा यह है कि शुभ और अशुभ की व्याख्या नहीं हो सकती लेकिन 250 प्रश्नों के घने तर्क जाल से गुजरने के बाद नतीजे इस पे आते हैं कि शुभ और अशुभ की कोई व्याख्या नहीं अव्याप्त है बुद्धिमान तो किसी की भी व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि व्याख्या होती प्रत्येक से जीवन से तुम पूछते हो जमाना लेकिन तो हो चुका मायूस निश्चित है ये बात आज की ये बात नहीं है पुरानी है सदा की बुद्धिमानों से तो दुनिया सदा से उदास रही हताश रही इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं ये तो बस राख बटोरते रहते हैं सिद्धांतों की तो सड़े गले शास्त्रों को इकट्ठा करते रहते उन पर शोधकारी करते रहते कि बड़े मजे की बात है कबीर जिंदा तो वहां एक पंडित नहीं पहुंचेगा काशी के सारे पंडित कबीर के खिलाफ थे कबीर का जीना दुभर कर दिया था और कबीर के मर जाने के बाद जितना शोधकारी कबीर पर होता उधर किसी पर नहीं होता ये तो हैरानी की बात काशी विश्वविद्यालय में भी कबीर पर ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे जाते भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं जहाँ कबीर पर कोई शोधकारी न चलता हो सैकड़ों पीएचडी के शोध ग्रंथ कबीर पर लिखे गए और इनमें से एक भी कबीर के पास नहीं जाता अगर कबीर जिंदा होता गए ही नहीं कोई यही काफी यही पंडित मगर अब अब कबीर की किताबों में किताबों के कीड़े जाइए दिन के जाइए ये किताबें खाती ये किताबों पे जीती इनकी खोपड़ी में सिवाय कचरे के और कुछ भी नहीं इनसे संसार में कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ तो बातें ही कुछ कर गुजरे तो कर कुछ नहीं अच्छा भी करते हैं भाई बुरा भी करते हैं भाई इसलिए पागलपन के दो प्रकार का है एक पागलपन है बुद्धि से नीचे ले जाना जैसे Adolf Hitler Genghis Khan Tamerlane Joseph Stalin नाउसम और एक पागलपन है बुद्धि के पार उठाने गौतम बुद्ध क्राइस्ट कबीर अल्टू दोनों ही एक अर्थों में पागल है एक गिद्धि से नीचे गिर गया एक बुद्धि के पार उठ गया उठे बुद्धि के पार यहाँ पागलों की जमात में इकट्ठी कर रहा हूँ दीवानों की प्रेमियों की परवानों की मरने मिटने की हिम्मत होनी चाहिए दांव पर लगाने का जीवन को साहस होना चाहिए जुआरी ही कुछ पा सकते शराबी ही कुछ पा सकते इधर लोग पानी छान छान के पी रहे हैं इनसे क्या कुछ खास होगा जीवन के रस को बिन छाने पी जाओ जीवन की रस को आंख बंद करके पी जाओ क्योंकि जीवन के रस में ही छिपे हैं सारे रहस्य बुद्धिमान तो सोचते ही रहते स्वर्ग में एक दुर्घटना घटी एक कैसे में बुद्ध लाओसु अतिहिंसा तीनों बैठे गप सब कर रहे हैं और परो भी क्या गपशप के सिवाय शर्म दूसरा काम भी नहीं सब करो ये चरखा काटो कुछ मैं किसी तरह का कुछ आंख खेलो कि शतरंज के मोहरे चलाओ स्वर्ग में करोगे क्या जैसे गांव देहात में लोग बरसात के दिन में कुछ नहीं पाते आला उधल पड़ते किसी स्वर्ग में आला उधल पड़ो और क्या करोगे बैठे तीनों सप कर रहे हैं समय की तो कोई कमी ही नहीं अनंत काल तभी एक अप्सरा शायद उर्वशी हो क्योंकि इससे छोटी अप्सरा और बुद्ध और लाउसु और कन्फ्यूशियस जैसे लोगों की सेवा के लिए तत्पर नहीं होती उर्वशी एक सुराही लेकर आई जो जीवन रस से भरी और उसने बुद्ध को पूछा बुद्ध ने तत्काल आंखें बंद कर ली कहा हटाओ हटाओ दूर हटाओ मैं त्यागी व्रती जीवन सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं जन्म भी दुख जरा भी दुख मरण भी दुख जीवन दुख ही दुख ये रस नहीं है ये जहर है हटाओ हटाओ कंफ्यूज ने आधी आंख खुली रखी आधी बंद रखी यह समझो कि एक आंख बंद रखी और एक खोली रखी क्योंकि कंफ्यूशस मानते हैं मध्य का नियम अति नहीं बुद्ध जरा अति पे चले गए दोनों आंखें बंद कर ली इतनी जल्दी में ऋण नहीं लेना चाहिए पहले जीवन रख सको तो तो कंफ्यूज ने कहा कि एक घूट सकूंगा फिर तय करूंगा एक घूट रखा और कहा कि बुद्ध ठीक कहते कड़वा है तिक्त है और दुख लाएगा ऊपर से सुवासित मालूम होता है सुगंधित मालूम होता है लेकिन भीतर खतरनाक है लाओसू ने पूरी सुराही ले ली और गठागठ की गया पूरी सुराही और जब पूरी सुराही गटागट पी गया तो बुद्ध भी देखते रहे आंख खोल के देखा हुआ कि क्या मामला हो रहा है जब गटागट की आवाज सुनी कंफ्यूशन ने भी दोनों आंखें खोल दी दोनों को सदमा भी लगा और जब गटागट पूरी सुराही पी गया लाउस तो खड़ा होके नाचने लगा चुमक चुमक ताथे ताथे और उसने कहा कि आंख बंद करने से कोई साफ नहीं और एक घूट से कुछ पता नहीं चलता ये तो पूरा जो पीता है उसी को मालूम होता है समग्रता लाउसु का संदेश जीवन को जियो उसकी समग्रता में तो ही जान सकोगे बुद्ध ने सोच विचार के कहा कि जीवन व्यर्थ है कंफ्यूज भी विचारशील है मध्य मार्गी है स्वर्ण नियम मानता है विचार का कि अतिशय पर न जाओ बीच में रहो जैसे तराजू का कांटा बीच में समतुल है लाउसु दीवाना है लेकिन लाउसु ने जिस गहराई से जीवन को जाना है उस गहराई से किसी ने भी नहीं जाना तो देवेंद्र तुम ठीक कहते हो जमाना अहले किरत तो हो चुका मायूस कुछ अजब नहीं कोई दीवाना काम कर जाए इसलिए तो दीवानों को इकट्ठा कर रहा हूं एक आध दीवाने से काम नहीं होगा जमाना बहुत दीवाने चाहता है दीवानों की बस्तियां चाहता है दीवानों के समुदाय चाहता है सारी पृथ्वी को दीवानों से भर देना है जगह जगह जीवन रस को समग्रता से पीने वाले लोग जो सुराही को घटाघट पी जाए और जो नाच सके और जो गा सके और जिनका नाच और गाना संक्रामक होता जाए और सारी पृथ्वी को जो एक महोत्सव से भर दें ऐसे लोगों से संभावना है इस मनुष्य जाति के बचने की अन्यथा बुद्धिमान तो काफी पता चुके और अब भी छाती के सवार तूफानों से टक्कर ली थी यह तो किनारा जाने है साहिल पर हम डूब रहे हैं क्या यह धारा जाने है नाम हमारा जब आता है चुप रहकर खुश होते हो कहने को ये राज है लेकिन आलम सारा जाने हैं ये दुनिया है दीवानों से बज्म सजी है परवानों से समा हो तुम ये बात न मानो दिल तो तुम्हारा जाने है शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों आवारा हम फिरते हैं राह बसाता जर्रा जर्रा नाम हमारा जाने दिल की जीते दिल की माते जादूगर की सारी बातें शाम का तारा जाने न जाने सुबह का तारा जाने कच्चे धागे टूट चुके हैं कितने साथी छूट चुके हैं जाने क्यों दिल अब तक तुमको अपना सहारा जाने मीर हुए थे कल दीवाने आज हुए हैं हम दीवाने फरजानों की ये दुनिया अंजाम हमारा जाने वाकर कब तक छू चुकोगे मरने की तदगीरें सोचो दिल की खातिर जीते हो ये दिल ही तुम्हारा जाने मीर हुए थे कल दीवाने महाकवि मीर की तरफ इशारा है मीर हुए थे कल दीवाने आज हुए हैं हम दीवाने फरजानों की ये दुनिया अंजाम हमारा जाने बुद्धिमानों की ये दुनिया भली भांति जानती है कि दीवानों का क्या परिणाम होता है इसलिए बुद्धिमान तो डरते हैं झिझकते दीवानों का क्या परिणाम होता है दीवानों का पहला परिणाम तो ये होता है कि वे अपने को समर्पित कर देते हैं अस्तित्व की महाअग्नि में वे अपने को मिटा डालते हैं डालते वे अपने को बचाते नहीं वे गल जाते जैसे बर्फ गल जाए सुबह की धूप में बर्फ पिघल जाए सुबह की धूप में ऐसे में परमात्मा की उष्णता में उसके प्रेम में पिघल जाते गल जाते विसर्जित हो जाते दिल की गीते दिल की माते जादूगर की सारी बातें शाम का तारा जाने न जाने सुबह का तारा जाने दीवाने तो सुबह के तारे हैं जिन्होंने पूरी रात देख ली रात के सब राज देख लिए जिन्होंने अंधेरा पहचान लिया और किनकी सुबह से पहचान हो गई जो अब सुबह के उगते हुए सूरज को भी देख रहे हैं लेकिन सुबह के तारे को एक खतरा उठाना पड़ता है इधर सूरज उगा इधर तारा मिटा उसे मिटने की तैयारी रखनी होती है ये दुनिया है दीवानों से वज्र सजी है परवानों से समा हो तुम ये बात न मानो युद्ध तुम्हारा जाने परमात्मा समा है और ये दुनिया है दीवानों से वज्र सजी है परवानों से परमात्मा एक दिए की ज्योति है और जो उसमें परमाने की तरह डूब जाए मिट जाए खो जाए एक हो जाए लगातार हो जाए वही उपलब्ध हो पाता है तो देवेंद्र तुम ठीक कहते हो मगर कहते ही ना रहो दीवाने बनो कहीं ऐसा ना हो कि ये बात भी बस बुद्धिमानी की हो मनुष्य की बुद्धि बड़ी चालाक है बुद्धि के खिलाफ भी बातें कर लेती इतनी चालाक है ये दौरे मसगत ये तेवर तुम्हारे उभरने से पहले न डूबे सितारे भवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो कहा तक चलोगे किनारे किनारे अजब चीज है ये मोहब्बत की बाजी जो हारे वो जीते जो जीते वो हारे स्याह नागिन बन के डसती है किरने कहा कोई ये रोज रोशन गुजारे पसीने वहां डूब कर ही रहे हैं जहां हौसले ना खुदाओं ने हारे कई इंकलाबात आए जहां में मगर आज तक दिन न बदले हमारे रजा नौ की खबर दे रहे हैं उफक को ये छूते हुए तेज धारे सोचते ही मत रहो ऐसा सोचने से कुछ भी न होगा बुद्धिमान दीवानी की बात भी सोच लेता है उसका भी सिद्धांत बना लेता है परवाने की बात भी सोच लेता है उसका भी सिद्धांत बना लेता है मगर स्वयं परवाना नहीं बनता भवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे होशियार आदमी तो किनारे किनारे चलता है देखता है तूफान आंधी दूसरा किनारा तो दिखाई भी नहीं पड़ता और नाव छोटी हाथ छोटे पतवार छोटी कौन उतरे इस खतरे में और ध्यान रखना अगर डरते डरते भयभीत भयभीत कोई उतर भी गया आधे आधे मन तो पहुंच नहीं पाता कफीने वहां डूब कर ही रहे हैं जहाँ हौसले ना खुदाओं ने हारे अगर माझी में हौसला ही ना हो अगर माझी नाव को उतारने के पहले ही पस्त हिम्मत हो सफीने वहाँ डूबकर ही रहे तो फिर नौकाएं डूब जाती सफीने वहाँ डूबकर ही रहे हैं जहाँ हौसले ना खुदाओं ने हारे रजा शल नौ की खबर दे रहे हैं नई सुबह होने को है नई किरण छूटने को है रात टूटने को है क्योंकि आदमी जी चुका अंधेरे में बहुत पांडित्य का जाल हर चुका है ये भवन गिरने को है जरा धक्का देने की जरूरत है रजा पहले नौकी खबर दे रहे हैं उफक को ये छूटे हुए तेज धारे हैं जरा देखो आंख खोलकर जिंदगी नया होने को उतावली है जिंदगी पुराने जालों से छूट जाना चाहती पुरानी सीमाएं जिंदगी की कब्र बन रही पुराने ढंग पुराने पक्षपात पैरों में जंजीरें बन गए कारागृह बन गए मुक्त करो मनुष्य को लेकिन मुक्त करो स्वयं को तो ही मनुष्य को मुक्त कर सकोगे बात तो तुमने पते की कही लेकिन बात ही न रह जाए जीवन बने दीवाने बनो परवाने बनो किनारे किनारे बहुत चल चुके अब नाव छोड़नी तूफान है जरूर मगर तूफान सौभाग्य क्योंकि जो तूफान से टक्कर लेता है वही निखर पाता है वही प्रखर होता है तूफान चुनौती है तूफान के पीछे ही छिपा है दूसरा किनारा जिन्होंने अनुभव किया है वो तो कहते हैं तूफान ही है दूसरा किनारा मझधार में डूबे तो मिल गया दूसरा किनारा मगर डूबने का एक ढंग है एक तो डूबता है वह जिसने हौसला छोड़ दिया बस हिम्मत कायर वो तो किनारे पे डूब जाता उसके लिए कोई नवधार तक जाने की जरूरत होती वो तो किनारे पे डूब मरता उसके लिए तो चुल्लू भर पानी भी मर जाने के लिए काफी डूब जाने के लिए काफी कायर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते लेकिन साहसी उतरते सब बुद्धिमत्ता को एक तरफ हटाकर प्रेम के एक पागलपन में खून पड़ते तूफानों में फिर अगर मतधार में भी डूब जाए तो उन्हें किनारा मिल जाता है क्योंकि जीवन का गणित बड़ा अजीब अजब चीज है ये मोहब्बत की बाजी जो हारे वो जीते जो जीते वो हारे भवलो तुम तो लहरों से उलझो कहां तक चलोगे किनारे किनारे आज इतना